بسم الله الرحمن الرحيم والبلاغة يوسف بها الأخيران فقط और बलागत के साथ सिर्फ अखीर के दो मुस्तफ़ होते हैं ये मुकदमा चल रहा है और इससे पहले फसाहत के बारे में फरमाया था कि फसाहत के साथ मुफरत कलाम और मुतकलम मुस्तशिफ होते हैं अब यहाँ पर बतला रहे हैं कि बलावत के साथ सिर्फ अखीर के दो मुस्तशिफ होते हैं अखीर के दो से मुराद कौन से होंगे मुफरत कलाम और मुतकलम अखीर के दो कौन से होंगे मुफरत और मुतकली अरे कौन से होंगे हैं कौन से होंगे अरे बताओ not torture him. तो बताओ ना सब बताओ सब बताओ सबसे तुम्हें तो बलागत के साथ सिर्फ अखीर के दो मुतसिफ होते हैं आगे निकाल कर शारह ने मेहरबानी फरमा दी बदला दिया अल कलाम वल मुतकलम दूनल मुफरती यानी कलाम और मुतना के समझ में साफ आ जाए फसाहत उसको कहते हैं असर हो सुनने वाले पर बलावत उसको कहते हैं फसाहत के अंदर सफाई होती है कलाम साफ सुथरा होता है और वो लोगों के सामने जब आदमी बात करता है तो बात एकदम वाज और साफ सुथरी हो जाती है बलागत के अंदर यह होता है कि कलाम मुख्तव हाल के मुताबिक होता है कलाम मुख्तज हाल के मुताबिक होता है यानी जैसा मौका ऐसी बात जैसा मौका ऐसी बात जैसा हाल तकाजा करता है जैसा मौका होता है जैसे ही उसके मुताबिक कलाम को लाना इसको क्या कहते हैं बलागत कहते हैं जैसे पहले बदलाया था एक शख्स है वो खाली जहन है उसके जहन में किसी के आने का कोई जिक्र उसके जहन के अंदर पहले से कोई बात नहीं है कोई तरद नहीं है कोई इनकार नहीं है अब उसके सामने कहा जईद कायम जैद खड़ा ये कहा जा जईद जैद आ गया अब चूँकि भी नहीं है और मुनके भी नहीं है तो जा जैदन कहना यह मुखज हाल के मुताबिक हो अगर वो मुतारद है तो फिर उसके सामने जो कलाम लाया जाएगा वो ताकिद के साथ लाया इन्ना जईदन क्या कहेंगे जैसे खड़ा है जैद तो इन्ना जैदन लफ इन्ना जैदन कायम बेशक जैद खड़ा है अगर वो उसके खड़े होने का इनकार कर रहा है ना और अगर मुतरद है तो ताकीद का लाना मुस्तन है और अगर मुनकर है तो ताकीद का लाना क्या है अरे सब दुरुस्त बुलाकर में पढ़ लीजिएगा ताकीद का लाना वाजिब है वो तोकीद हुआ तो कलाम को मुख्तव हाल के मुताबिक लाना इसको कहते हैं बलागत अब इसके साथ में मुतकलम और कलाम ही मुतफिक होंगे मुफरत मुतफिक नहीं होगा बलागत के माना पहुंचने के होते हैं इंतहा किसी चीज़ के आखिर तक पहुंच जाना किसी चीज़ की इंतहा होना जैसे बलागर वजूलू मुराद आदमी अपनी मुराद को पहुंच गया और एक मिसाल आई थी काफले वाली आई थी वो बलागर रकबू अल मदीना था तो मदीना काफला मदीने में पहुंच गया तो इसके माना के अंदर पहुंचने के और किसी चीज़ के आखिर तक जाने के माना आते हैं वलबलागत हिया तुम भी को आनिल वसूली वल इंतहाई और बलागत और वो खबर देता है उसूल पहुँचने और इंतहा और इंतहा के माना वो उसूल और इंतहा की खबर देता है यूसफ बिहल अखीरान फ़कत उसके साथ सिर्फ अखीर के दो मुतफ़ होते हैं यानी कलाम और मुतकलम ना के मुफरत इजलम युस्मा कलीमतन बलीगतन इस इबारत के ज़रिए मुसनफ़ रहमा इस बात की इल्लत बयान फरमा रहे हैं कि बलागत के साथ सिर्फ कलाम और मुतकलम ही मुतसिफ क्यों होते हैं मुफरत मुतसिफ क्यों नहीं होता है फरमाते हैं क्योंकि कलीमतुन बलीगतुन सुना नहीं गया है पहले अरब कलीमतुन बलीगतुन नहीं कहते कलाम बलीगुन तो कहते हैं मुतकलम बलीगुन तो कहते हैं ये मुतकलम बलीग है ये कलाम बलीग है लेकिन कहते हों कलीमतुन बलीगतुन या मुफरतुन बलीगुन तो वो कलीमतन वतन नहीं कहते क्योंकि उनसे कलीमतन वतन नहीं सुना गया इस वजह से कलीमा बलीग नहीं होता जैसे पीछे आया था कलीमतन फसीहतन कलाम फसीहन शायर फसीहन कादब फसीहन तो वहाँ तो तीनों मुतसिफ हो रहे थे किसके साथ फसाहत के साथ इसलिए वहाँ पर फसाहत जो है वो तीनों के साथ मुतसिफ होती है लेकिन बलागत वो सिर्फ कलाम और मुतकलम के साथ मुतसिफ होती है क्यों मुफरत के साथ क्यों नहीं होती इसलिए कि अहल अरब उससे कभी बलिगतन नहीं सुना गया है अरे आरि भाई समझ में बात ये अभी छुट्टियों में जहन लगा हुआ ध्यान से والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال وهي لا يتحقق ला तहकिल मुफरदी वाह मुन खबर लियान्नामा हुआ कि बलागतिल कलामी वलमतकली किसी ने एक इल्लत बयान की है उस इल्लत को मुसनफ़ अली रहमान ने वहम कहकर रद्द कर दिया शारह ने किसी की तरफ से पेश करदा इल्लत बयान की और उस इल्लत को बयान करने के बाद में उसको कहा कि यह वहम है ये इल्लत बयान करना सही नहीं इल्लत कौन सी सही है इल्लत सही वही है कि अहल अरब से कलीमतन बलीगतन नहीं सुना गया है बलागत के साथ मुफरत मुतसिफ क्यों नहीं होता उसकी एक इल्लत ये बयान की गई है कि बलागत किसको कहते हैं बलागत कहते हैं कलाम का मकतज़ हाल के मुताबिक होना कलाम का मुख्त हाल के मुताबिक होना और ये चीज़ मुफरत के अंदर मुतहक़ नहीं होती कलाम मुख्त हाल के मुताबिक तब होगा जब उस देखो मुफरत सिर्फ कहा इसमें तो कोई मुताबकत नहीं हाँ जब कलाम बनाएंगे जईदुल तब तो ये कलाम मुख्त हाल के मुताबिक हुआ कि ये ऐसे शख्स के सामने कलाम कहा जा रहा है जो खाली जैन जैदन कायमन ऐसे शख्स के सामने कलाम कहा जा रहा है कि जो मुनकिर है या मुतरद है तो देखो कलाम और मुतकलम के साथ भी बलावत मुस्तफ होगी मुफरत के साथ बलावत मुस्तफ नहीं होगी ये इल्लत बयान की गई है पहले इल्लत देखो वतालील बन और ये इल्लत बयान करना के बलागत सिर्फ मकतब हाल की मुताबकत के एतबार से है और वो यानी मकतब हाल की मुताबकत मुफरद के अंदर मुतहक़ नहीं होती है ये इल्लत बयान करना वाहमुल ये वह अरे समझ में आई क्या इल्लत समझ में आई क्यों है वहम कलामी वल इसलिए के ये सिर्फ बलागत कलाम और बलागत मुतकलम में होती है क्या मुताबकत मकतब हाल की मुताबकत का जो एतबार है ये बलागत कलाम और बलागत मुतकलम के अंदर ही होता है क्या मतलब इस मतलब को थोड़ा सा समझो मकतद हाल की मुताबकत ये पाई जाती है बलागत कलाम के अंदर और बलागत मुतकलम के अंदर ये कहते हैं कि हो सकता है कोई ऐसी तारीफ कर दी जाए कि जिसके अंदर मुफरत भी शामिल हो जाए और बलागत जो है मुफरत नहीं पाई जाए तो तुम्हारे ये इल्लत बयान करना सही नहीं होगा बल्कि इल्लत वही दुरुस्त होगी जो हमने इल्लत बयान की है क्या कलीमतन बलियतन नहीं सुना गया है तो कर पड़ी कुछ देखो जरा अन्ना दालिका इसलिए कि ये यानी मुफ्त हाल की मुताबकत का एतबार मुख्त हाल की मुताबकत जो पाई जाती है वो तो सिर्फ बलागत कलाम और बलागत मुतकलम के अंदर ही होती है मुफरत में नहीं होती ऐसा हो सकता है कि मुफरत के बारे में कोई ऐसी दूसरी चीज़ लेकर आए कि जो मुफरत नहीं पाई जाए और फिर आपको तारीफ करना तो दुरुस्त नहीं होगा तो इसलिए ज़्यादा सही वही है ये कहा जाए कि जुस्मा कलीमतन बलियन इसलिए कि कलीमतन बलियन फेल अरब से नहीं सुना गया है चलो व इनमा पसमा कुल्लम मिनल फसाहती वल बलावती अवलन और जुजी ने फसाहत बलावत में से हर एक को तकसीम किया जुजी ने इसके अलावा नहीं इसके तर्जुमा होता था पुराने ज़माने में लेकिन इस ज़माने में इसको थोड़ा मसरूफ सही हो गया है और ये हसर के लिए आते है और मुसनफ़ ने बसाहत व बलागत में से हर एक की अवलन तकसीम यहाँ से एक बात बयान करना चाहें या ये कहो कि एक इश्काल का एक इश्काल है उसका जवाब बयान करना चाह रहे हैं इसकाल ये हो रहा है तरीक़ा ये होता है कि सबसे पहले किसी चीज़ की तारीफ की जाए और तारीफ करने के बाद फिर उसकी तकसीम की जाए कलीमा क्या है कलाम क्या है इसकी तारीफ होगी उसके बाद में क्या होगा इनकी तकसीम हो जाएगी कलीमे की कितने किस्में तीन और कलाम की दो फिर उनके आगे जो है तफसील चलेगी लेकिन पहले क्या है कलीमे की तारीफ है फिर उसकी किस्में है कलाम की तारीफ है उसकी किस्में यही तरीका है यहाँ कह रहे हैं कि भाई मुसनफ़ ने फसाहत और बलागत में से हर एक की तकसीम करी है अवलन इनकी तारीफ नहीं की देखो अलफसाहत यूसफ़ ब्याल बल कलाम फसाहत के साथ मुफरत कराम और और मुतकलम मुतफ़ होते हैं तो इसकी तीन किस्में बदला दी है ना ऐसे ही बलागत के साथ कलाम और मुतकलम मुतफ़ होते हैं ये दो किस्म आ इनकी तारीफ नहीं की इन्होंने इसे आगे कहा ना वही तुम भी वसूली वाली इंतहा ये तो तारीफ नहीं है पहले मैं इसके बारे में तफसील से बतला चुका हूँ ये कोई तारीफ नहीं है ये तो एक बतलाने के लिए खबर देते हैं इनके माना के अंदर ये चीज़ पाई जाती है और इंतहा के माना पाए जाते हैं ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया कि मुसनफ़ ने तकसीम शुरू कर दी अवलन ही और उनकी तारीफ नहीं की कहते हैं कि ऐसी कोई तारीफ नहीं थी कि हम इनकी तारीफ करते और फिर उसके बाद तकसीम करते कि जो उस इसी सारे किस्मों को शामिल हो जाए जैसे मुसनफ़ ने अपनी बात को पक्का किया है इस तरह अल्लामा इबन हाजिब रहमतुल्लाह आलह जो कदूरी के मुसनफ़ हैं किसको मुसनफ़ है काफिया के काफिया के मुसनफ़ हैं उन्होंने मुस्तना का बयान शुरू किया और उसकी तारीफ किए बगैर तकसीम शुरू कर दी मुतसिल और मुनफ़ की तरफ मुस्तना की दो किस्में हैं मुस्तिल और क्यों इसलिए कि उसकी एक कोई ऐसी तारीफ नहीं है कि जिसके अंदर मुस्तिल और मुनक़ दोनों का मफहम बयान किया जा सके कैसे ही यहाँ पर था कि इसकी फसाहत की इसी तरह बलागत की कि इनकी कोई ऐसी तारीफ नहीं है जो दोनों के मफहम को जो इन सबके मफहम को क्या हो जाए शामिल हो जाए इसलिए पहले तकसीम कर दी और फिर उनमें से हर एक की तारीफ कर दी गई अरे समझ में तो और जुजी में मुसनफ ने फसाहत और बलागत में से हर एक की तकसीम की अवलन शुरू ही में पहले क्यों लिताजुरी जमल मानिल मुख्तलिफ़तिल गैरिल मुश्तरिकति अमरी उन मुख्तलिफ मानी के जमा होने के मुतासर होने की वजह से जो ऐसे अम्र के अंदर ऐसे मफहूम के अंदर मुश्तरक नहीं है यामुहा की तारीफ वाहिदिन के जिनको एक ही तारीफ आम हो जाए जिनको एक ही तारीफ आम हो जाए या जो एक ही तारीफ के अंदर आम हो जाए और शामिल हो जाए क्योंकि ऐसी तारीफ नहीं इस वजह से अलग अलग कर दिया गया वहादा अपनी बात को पुख्ता कर रहे हैं कि तो देखो ये मेरे पास दलील है मैंने ऐसा क्यों करा हमारे बड़ों ने ऐसा किया है और ये ऐसा ही है जैसा कि तकसीम की है अलामा इबन हाजिब रहमल्लाह ने किसी अल मुस्तना मुस्तना की इला मुस्तिल व मुनफिल मुतसिल और मुनक़ की तरफ तुम अर्रफा कुल्लम मिनहुमा फिर उन्होंने उनमें सारे की तारीफ को अलाहिदा बयान किया तो उनमें सारे की तारीफ को मुसनफ ने अलीदा बयान किया इसी तरह मैंने यहाँ पर कर दिया है पहले जो है इनकी इनकी तकसीम की तकसीम करने के बाद में फिर उनमें सारे की तारीफ को बयान किया है अच्छा जी फल फसाहत फिल मुफरदी बस फसाहत क्या है खलूस मिन तनाबुलहरूफी वलगराबती व मुखालफत क़ियासलवी उसका खाली होना है हरूफ गराबत और मुखालफत क़ियासलवी से फसाहत फिल मुफरद यहाँ पर मुसनफ़ शार अली रहमा ने इसकी वजह बयान की है कि फसाहत को बलावत पर मुकदम क्यों क्योंकि जब इन्होंने फसाहत को पहले लेकर आए हैं और बलावत को आगे जिक्र करेंगे तो फसाहत को पहले क्यों लाए बलावत को पहले ले आते वजह तरजीह क्या है कि तुमने फसाहत फिल मुफरत ये फसाहत उन्होंने जो फसाहत को तरजीह दी है कि फसाहत को पहले लाए हो और बलागत को बाद में लेकर आए हो तो ऐसी क्या वजह है इसको पहले लाने की वजह फरमाते हैं कदमल फसाहता अल बलागती बेतवक़ी मारिफतिल बलागती अला मारिफतिल फसाहती फसाहत को मुकदम किया बलागत पर बलागत की मारिफत के फसाहत की मारिफत पर मौकूफ़ होने की वजह से बलागत के जानने के फसाहत के जानने पर मौकूफ़ होने की वजह से बलागत का जानना फसाहत के जानने पर मौकूफ़ है जब बलागत का क्योंकि देखो फसाहत की बलागत की तारीफ में मा फसाहत ही की कैद आती है माँ फसाहती कि उसका मकसद हाल के मुताबिक होना मुताबकतल हाली मा फसाहती तो उसके फसी होने के साथ साथ तो फसी होने के साथ साथ देखो बलागत की तारीफ के अंदर फसाद की सैद है फिर फसाद की कैद है तो पहले फसाद को जानेंगे जल्दी तो बलागत को पता चलेगा तो अब क्या मालूम हुआ कि बलागत ये मौकूफ है किस पर फसा मौकूफ आले क्या हुआ इसके अंदर जिस पर मौकूफ हो उसको कहते हैं मौकूफ आले और जो चीज़ मौकूफ हो तो कहते हैं मौकूफ यहाँ पर मौकूफ आले क्या हुआ मौकूफ आले क्या हुआ फसाहत या बलागत फसाहत मौकूफ आले हुई और बलागत मौकूफ और मौकूफ वाले मौकूफ पर मुकदम होता है तो इसलिए यहाँ पर फसाहत को जो मौकूफ वाले है इसके उसको मुकदम किया गया मुकदम अलफसाहता फसाहत को मुकदम किया मुसनफ ने देखिए फसाहत को मुकदम किया गया बलागत पर बलागत की मारिफत के फसाद की मारिफत पर मौकूफ होने की वजह से लिकौन यहाँ माफूदतन की तारीफ या उसके इसके फसाहत के बलागत की तारीफ में माफूद होने की वजह से फसाहत बलागत की तारीफ के अंदर फसाहत क्या है दी गई है मा फसाहती मुसाबकतूल मुफजल खाली मा फसाहती तो फसाहत के बलागत की तारीख में मौकूफ माफूज होने की वजह से लिए जाने की वजह से अरे यहाँ तक कुछ पल्ले पड़ गई थोड़ी बहुत ना पड़ी अरे ऐसा लग रहा है मकूफा लिखना है फसाहत लेकिन फसाहत का बलावत के अंदर होना ज़रूरी है हर वो कलाम जो बलीग होगा वो भी होगा इसलिए कि माँ फसादी की सेहत इसके अंदर गई है लगाई गई है और हर वो कलाम जो फसी होगा वो बलीग ज़रूरी नहीं हर वो कलाम जो फसी हो उसका बलीग होना ज़रूरी नहीं और वो कलाम जो बलीग हो उसका फसी होना ज़रूरी ठीक है एक बात दूसरी बात सुम्मा قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها एक चीज से पीछा छुटा अब दूसरी चीज आ गई चलो ठीक है तुमने फसाहत को मुकदम किया बलागत पर क्योंकि वो क्या है वकूफ है और ये मौकूफ़ आ अच्छा ये तो बताओ फसाद फिल मुफरत को पहले क्यों लेकर आए फसाद फिल कलाम को लिहाज के फसाद फिल मुतकलम को लिहाज है फरमाते हैं फिर फसाहत मुफरद को मुकदम किया फसाहत कलाम और मुतकलम पर क्यों नीता की जमा रही उन दोनों के फसाहत कलाम और फसाहत मुतकलिम के मुफरद पर फसाहत मुफरद पर मौकूफ होने की वजह से क्या समझेगा अरे जब तक फसाहत मुफरद नहीं होगा जब तक फसाद कलाम भी नहीं बोलेगा और मुतकलम जब तक फसी अल्फाज नहीं बोलेगा फसी कलीम नहीं बोलेगा तो फसी मुतकलम भी नहीं होगा तो मुफरद होंगे कलीमे होंगे जब तो कलाम बनेगा ना तो कलाम के फसी होने के लिए एक चीज़ क्या ज़रूरी है कि वो कलीमे की फसी होने चाहिए तो इसलिए चूँकि वो कलीमों तो बग़ैर कलाम नहीं बन सकता तो यहाँ पर मौकूफ़ क्या हुआ मौकूफ़ वाले क्या हुआ मुफरत और मौकूफ क्या हुए कलाम मुतकल्लिम और मौकूफ अले पहले होता है मौकूफ वाले मुकदम होता है और मौकूफ मौखर होता है तो इसलिए मुफरत को फसाद मुफरत को मुकदम किया और बाकी को मौखर कर दिया ठीक है खुलूस का नाम मुफरत من تنافر الحروف والغرابت व मुखालफत लुगवी उसका यानी मुफरद का खाली होना मुफरद का खाली होना किन चीज़ों से फसाद फिर मुफरद कहते हैं मुफरद का तनाफुर हरूफ गराबत और मुखालफत सियासी लुगवी से खाली होना तनाफुर हरूफ पढ़ चुके हो किसको कहते हैं السلام जबान पर कलीमा क्या हो बोझ सा महसूस है तलफुज उसका बड़ा दुशवार है ये दुरुस्त बलावा में आ चुका है बराबर कानून कर दीजिए कानून नकवी طب مخالفت قیاس دیکھ لے تو غراوت تنافر حروف غراوت اور مخالفت قیاس لغوی ان تین چیزوں سے خالی ہونا کس کا कौन कलामी कौन कलामी गैर ज़ाहिरत माना ऐसे ये मेरा सही होगी उसके सफ़ातुल कलिमती सलामत व मिनतनाफुर शरूबी व मुखालफत अलक़ियात वलगराबत فتنافر الحروف وصف في الكلمة يجب استقلها على اللسان وعذر فيها نحو أول شيء للموضع الخشن ومخالفة القياس كون الكلمة غير غير جارية على القانون الصرفي मैं सही बता रहा था सही सोच रहा था बता दो तो गलत रहा था कोई शब्द तो गराबत किसको कहते हैं कौनुल कलाम गैर ज़ाहिरतिल माना के कलाम ये कौनुल कलीमती के कौनुल कलीमती गैर ज़ाहिरतिल माना के कलीमे के माना का जाहिर ना होना और मुखालफत कवि कौनुल कलामी गैर कायदे सर्फी के खिलाफ कायदे सर्फी के खिलाफ जैसे आप पर अबुआफ उनकी मिसाल आई थी गुफन अबुआफ उनकी मिसाल आई थी आगे आ जाएगी इसके अंदर सारी चीज़ें अब आगे फरमाते हैं देखो एक लफ्ज लेकर आए इसमें अलुगवी मुफरत का खाली होना तनाफर हरूफ बराबत और मुखालफत क्यास से लुगवी का लफ्ज़ क्यों बढ़ाया लुगवी का लफ्ज़ इसलिए बढ़ाया कि लुगवी से मुराद है लुगवी से मुराद मुखालफत क्यास से मुराद मुखालफत क्यास लुगवी है मुखालफत क़यास शर्य नहीं शर्य की क़ैद शर्य से एतराज़ करने के लिए यहाँ पर लुगवी की क़ैद लगाई गई है वो क्या है और सामने कभी पढ़ा दी मुखालफत क़यास शरीर क़यास शरीर होता है एक चीज़ का हुक्म मालूम नहीं कुरान और हदीस में मौजूद नहीं अब उसी जैसी दूसरी चीज़ देखी जाएगी कि उसका हुक्म क्या है अगर वो हराम है तो उसके हराम होने की वजह से इस पर भी हराम का हुक्म लगा दिया जाएगा हरमत का हुक्म लगा दिया जाएगा जैसे मिसाल के तौर पर कमर खमर किसको कहते हैं शराब शराब हराम है कुरान और हदीस से इसकी हरमत साबित है और एक होता है नबीज़ तमर नबीज़ तमर तमर के माना खजूर इसकी नबीज बनती है उसके अंदर भी ऐसे ही नशा होता है तो शराब चूँकि वो हराम है किस वजह से इस कार की वजह इस कार कहते हैं नशे नशे की वजह से शराब हराम है और वही नशा पाया जाता है नबी तबर के अंदर तब तो उससे प्रयास करके इस पर भी हुक्म लगा दिया जाता है कि भाई ये नबी तबर की क्या होगी हराम ठीक है तो यहाँ पर कयास से मुराद कयास शर्य नहीं है बल्कि कयास भी है व तो मुखालफत की और मुखालफत क़यासलवी से खाली होना तफसील कहते हैं अई अलमुस्तम्बती मिन इस्तरालगती यानी जो मुस्तम्बत हो लगत के इस्तरा से ततबो से तलाश से छान फटक से छानबीन से लगत अब सर्फ को लाया जाएगा इससे मुराद है कि देखो लगत के अंदर अल्फाज होते हैं उन्हीं को जो सामने रखा जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि इसकी जमा क्या आती है इसका मुफरत मतलब क्या आता है तो उसमें सर के कायदे जारी किए जाएंगे और फिर वहाँ से मालूम किया जाएगा कि ये कलीमा फंसी है ये कलीमा फंसी नहीं है अब आगे एक बात ये बयान फरमा रहे हैं व फसाहती बिलखलूसी लाखलुआन तसाम और फसाहत की तफसीर करना खुलूस के साथ यहाँ पर लाए ना खुलूस हु अरे खुलूस मुफरद मुफरत का खाली होना कहते हैं फसाहत की तफसीर करना खुलूस के साथ लफ्ज खलूस के साथ लाखलू अन तसाम तसाम से खाली नहीं चूक से खाली नहीं है मुसनफ़ से चूक हुई है मुसनफ़ को ये लफ्ज़ नहीं लाना चाहिए था खुलूस का क्यों वजह उसकी यह है फसाहत मुफरत फसाहत है वजूदी चीज फसाहत है वजूदी चीज कली में था साफ साफ सुथरा होना है ना इन चीज़ों से अब इन्होंने इसकी तारीफ क्यों की है इन इन चीज़ों से खाली होना यानी ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद ना हो तो तारीफ किससे हुई आदमी से हुई फसाहत है वजूदी चीज़ और तारीफ की है आदमी से और वजूदी की तारीफ आदमी से करना यह मुनासिब नहीं है तो मुसनिफ से चूक हुई अरे कुछ पल्ले तो बड़ी ना होगी तुम्हारा समझ लो फसाहत ये एक वजूदी चीज़ है फसाद कलीमे का साफ मतलब साफ सुथरा होना और फिर इसकी तारीफ इन्होंने की है आगे तो तारीफ इन्हें ऐसी चीज़ ऐसे अल्फाज से करनी चाहिए थी जिसके अंदर चीज़ के होने के माना हो रहे हो ना कि ना होने के माना तो तारीफ किससे की कि उसके अंदर वो इन इन चीज़ों से खाली हो यानी उसके अंदर वो चीज़ें ना हो तनाफुर हरूफ ना हो मुखालफत क्यास ना हो खराबत ना हो तो तारीफ़ की आदमी से और फसाहत है वजूदी चीज़ तो वजूदी चीज़ की तारीफ आदमी से करना है मुनासिब नहीं है तो इसलिए कहते हैं कि मुसलम से चूक हुई आने से फसाहत फसाहत तो उसका यानी मुफरत का खाली होना है तनाफर हजूर गराबत और मुखालफत सियासी से मुस्तमत आयमस्तमत यानी जो मुस्तमत हो लगत के इस्तरा से लगत के ततव से तलाश से व तफसर फसाहत बिलखलूस लाखलू आन तसामहन और फसाहत की तफसीर करना खलूस के साथ ये तसामह से खाली नहीं है फतनाहुरु वस्फ़ फिल कलिमती तूजिब इस्तक़लाहा अला लिसानी व उसरन बिहा फतनाहुर वो कलिमे में ऐसे वस्फ़ का होना है ऐसी सिफत का होना है कि जो जिसका सिकल जबान पर साबित हो और उसके तलफ़ की दुशारी क्या हो जबान पर साबित बोले तो जो है बड़ा मुश्किल निकलता हो जैसे आया था लफ्ज क्या आया था मुस्तशरात उसका शेयर आ रहा है गदायू मुस्तशरात उसके गेसू बुलंदी की तरफ उठे हुए हैं बुलंद ऊपर की तरफ उठे हुए हैं तो इसके अंदर जो मुस्तश जरातन का लफ्ज है इसके अंदर तनाफुर पाया जा रहा है तो इसलिए जो लफ्ज है जो कलीमा है मुस्तश ये है नहीं होगा फसी क्यों नहीं होगा इसलिए कि इसके अंदर क्या चीज पाई जा रही है तनाफुर पाया जा रहा है तनाफुर है हरूफ इसके जो हरूफ है वो जरा उनको बोलने में दुशारी पैदा हो रही है आगे समझ में बस